हजारों सिर हजारों नेत्र हजारों चरण हजारों बाह वाले होकर वे विद्वानों के चिंतन के विषय रूप सर्वज्ञ पीत वस्त्रधारी विशाल नेत्र वाले नीले बादल के समान वर्ण वाले महाविभूति स्वरूप योगियों के हृदय में निवास करने वाले योगात्मा नारायण जब किसी समय शेष शैया पर शयन करते थे तब उनकी नाभि से लीला करने के लिए दिव्य अद्भुत तीनों लोकों का सार रूप एक स्वच्छ कमल प्रकट हुआ वह कमल सौ योजन विस्तार वाला तरुण आदित्य के समान प्रकाशमान में दिव्य गंध से संपन्न और कर्णिकाएं तथा केसर से समन्वित था शांग नामक धनुष धारण करने वाले शांग धनवा नारायण इसी रूप में बहुत समय से निवास कर रहे थे तभी एक समय भगवान हिरण्यगर्भ उस स्थान पर गए उनकी माया से मुग्ध उन विश्वात्मा ने उन सुप्त सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर यह मधुर वचन कहा हे पुरुष श्रेष्ठ अंधकार से आवृत इस घोर निर्जन एकांत में अकेले सोने वाले आप कौन हैं मुझे बतलाइए उनके इस वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले गरुड़ध्वज ने हंसकर ब्रह्मदेव से कहा ब्रह्मा जी आप मुझे इस समस्त लोकों की उत्पत्ति एवं संहार करने वाला महायोगेश्वर एवं पुरुषोत्तम नारायण देव जाने पर्वत और महान द्वीपों से युक्त सात समुद्रों से घिरे हुए इस संपूर्ण जगत के साथ ही समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी आप अपने को भी मुझ में ही देखें ऐसा कहकर विश्वात्मा महायोगी हरि ने सब कुछ जानते हुए भी ब्रह्मा रूप पुरुष से कहा आप कौन हैं तदंतर वेद निधि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने हंसकर कमल की आभा के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मुस्कान वाले भगवान विष्णु को इस प्रकार मधुर वाणी में उत्तर दिया मैं ही धाता धारण करने वाला विधाता विधान बनाने वाला स्वयं भू स्वयं ही उत्पन्न होने वाला और प्रपितामह हूँ मुझ में ही संपूर्ण विश्व स्थित है मैं सभी ओर मुख वाला ब्रह्मा हूँ सत्य पराक्रम वे भगवान विष्णु ब्रह्मा का वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर योग बल से ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हुए उन देव ब्रह्मा के उदर में देवता असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को देखकर श्री विष्णु को अत्यंत आश्चर्य हुआ तदंतर नागराज की शैया पर निवास करने वाले अजात शत्रु वे भगवान विष्णु उनके ब्रह्मा के मुख से बाहर निकलकर पितामह ब्रह्मा से बोले पुरुष श्रेष्ठ आप भी अब इसी प्रकार मेरे उदर में प्रविष्ट होकर सदा इन विचित्र लोकों को देखें तब भगवान विष्णु की यह आह्लाद प्रदान करने वाली वाणी सुनकर और पुनः उनका श्री विष्णु का अभिनंदन कर कुशध्वज ब्रह्मा ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के उदर में प्रवेश किया सत्य विक्रम ब्रह्मा ने उन्हीं लोकों को भगवान विष्णु के उदर में स्थित देखा जिन्हें श्री भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में देखा था देव के उदर में भ्रमण करते हुए उन्हें हरि विष्णु का कोई अंत न दिखाई दिया तदंतर महात्मा जनार्दन ने अपनी इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर दिया तब ब्रह्मा ने उनकी नाभि में द्वार प्राप्त किया सुवर्ण में अंड से उत्पन्न चतुर्मुख ब्रह्मा ने योग बल से उसमें नाभि में प्रवेश कर नाभि से उत्पन्न कमल से अपने रूप को बाहर निकाला पद्म गर्भ के समान शोभा वाले स्वयं भू जगत लोनी पितामह भगवान ब्रह्मा अरविंद रक्त कमल पर बैठे हुए सुशोभित होने लगे अपने को संपूर्ण विश्व का स्वामी तथा परम पद आश्रय मानते हुए उन्होंने ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी में पुरुषोत्तम विष्णु से कहा आपने अपनी विजय की आकांक्षा से इस समय यह क्या किया अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को क्यों बंद कर दिया एकमात्र मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूँ और कोई नहीं है मुझे कौन पराजित कर पाएगा लोक नियामक ब्रह्मा का वचन सुनकर नारायण हरि ने सांत्वना पूर्वक यह मधुर वाक्य कहा आप ही धाता विधाता और स्वयं भू पितामह हैं मैंने ईर्ष्या देश के कारण अपने शरीर के द्वारों को बंद नहीं किया अपितु लीला करने की इच्छा से ही मैंने ऐसा किया न कि आपको बाधा पहुंचाने की दृष्टि से देवाधिदेव पितामह आपको भला कौन बाधा पहुंचाना चाहेगा आपको कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिए आप मेरे लिए सभी प्रकार से मान्य हैं मेरे द्वारा जो आपका अपहरण हुआ है उसमें आप सभी प्रकार से अपना कल्याण ही समझें इसी कारण ब्रह्मन मेरी प्रीति के लिए आप मेरे पुत्र बने जगन्मूर्ति आप पद्मयोनि इस नाम से विख्यात हूं तदंतर भगवान देव ब्रह्मा ने किरीट विष्णु को वर देकर अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः विष्णु से कहा आप सभी के आत्म रूप हैं अनंत हैं और सभी के परम ईश्वर हैं आप सभी प्राणियों की अंतर आत्मा हैं तथा आप ही सनातन परब्रह्म हैं मैं ही सभी लोकों की आत्मा एवं लोक महेश्वर हूँ यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है मैं परम पुरुष ब्रह्मा हूँ हम दोनों के अतिरिक्त लोगों का परमेश्वर दूसरा अन्य कोई नहीं है नारायण और पितामह के रूप में एक मूर्ति ही दो भागों में विभक्त हुई है उनके ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वासुदेव ब्रह्मा से इस प्रकार बोले यह प्रतिज्ञा आपके विनाश का कारण बनेगी क्या आप ब्रह्माधिपति योगेश्वर अव्यय एवं प्रधान पुरुष ईशान शंकर को नहीं देख रहे हैं मैं उन परमेश्वर को जानता हूँ योगेंद्र तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाता भी जिन महेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते आप उन्हीं अनादि निधन ब्रह्म की शरण ग्रहण करें तदंतर खुद ब्रह्मा ने कमल की आभा के समान नेत्र वाले केशों से कहा निश्चित ही आप अपने आप को वह परम अक्षर जगत का एकमात्र आत्म रूप ब्रह्म रूप परम पद शरण नहीं जान रहे हैं हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर और दूसरा कोई विद्यमान नहीं है आप दीर्घ निद्रा का परित्याग कर अपने आप को देखें पहचानें उनके ब्रह्मा के इस क्रोध युक्त वचन को सुनकर विष्णु ने कहा हे कल्याण इस प्रकार न कहें इस प्रकार न कहें यह उन महात्मा की निंदा है ब्राह्मण मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूँ किंतु ब्राह्मण आत्मा से समुद्भूत समस्त विशेषों की हेतुभूत परमेश्वर की माया ही आपको मोहित कर रही है इतना कहकर भगवान विष्णु अपने आत्म रूप महेश्वर को उस सर्वोत्कृष्ट परम तत्व के रूप में जानकर चुप हो गए तदंतर ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्राणियों के परम ईश्वर अपरिमेय आत्मा असीम सामर्थ्य संपन्न हर भगवान शंकर वहां प्रादुर्भूत हो गए उन अनंत भगवान शंकर के ललाट में नेत्र था वे जटा मंडल से सुशोभित थे तेज के परम निधि वे भगवान हाथ में त्रिशूल लिए थे उन्होंने सूर्य चंद्रमा ग्रहों तथा नक्षत्रों से गुथी हुई अद्भुत आकार वाली चरणों तक लटकती हुई लंबी दिव्य विशाल माला को धारण कर रखा था उन ईशान देव को देखकर माया से अत्यंत मोहित लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी रक्षा के लिए पीतांबरधारी विष्णु से कहा हे जनार्दन हाथ में त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्रधारी तेज की राशि रूप अमेय आत्मा यह कौन अनंत पुरुष यहाँ चला आ रहा है उनके ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले विष्णु ने निर्मल जल में दे दीप्यमान देव ईश्वर को देखा ईश्वर संबंधी उस परम भाव रूप ब्रह्म भाव को जानकर महेश्वर में परम तत्व का दर्शन कर भगवान विष्णु उठकर गए और देव देव पितामह से कहने लगे ये देव स्वयं प्रकाशित होने वाले सनातन आदि और अनंत से रहित अचिंत महान समस्त लोकों के ईश्वर महादेव हैं ये शंकर शनि ईशान सर्वात्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी योगी महेश विमल एवं शिव रूप कल्याण रूप हैं ये ही धाता विधाता प्रधान पुरुष और ईश्वर हैं यति जन सन्यासी लोग ब्रह्म की भावना से भावित होकर जिनका दर्शन करते हैं वे ही केवल निष्कल महादेव शिव काल बनकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं रक्षा करते हैं और संहार करते हैं ये वे ही शंकर आ रहे हैं जिन सनातन देव ने पूर्व काल में आप ब्रह्मा को बनाया और आपको वेद प्रदान किया प्रपितामह मुझे इनकी ही विश्व यौन सनातन एवं वासुदेव नाम वाली दूसरी मूर्ति समझो क्या आप ब्रह्मा के भी अधिपति अव्यय योगेश्वर को नहीं देख रहे हैं आपकी दिव्य दृष्टि हो जाए जिससे आप उस परम तत्व को देख सकें